वो यहूद जिनसे आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने मुआहदा किया फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं और वो अल्लाह से नहीं डरते